स्वध्वन परमाप्नोति तद विष्णु हो परमम पदम ऐसे कहा गया जो परम पद है ज्ञानी प्राप्त करता है उसका क्या है परम पद ज्ञान उसको जानने के लिए स्थूलारुंधति न्याय न्याय से स्थूल स्थूल पदार्थ से लेकर के सूक्ष्म तारतम्य क्रम से प्रत्येक आत्मत्वेन जो विष्णु का परम पद वही मैं हूँ अहम अस्मि प्रत्येक आत्मत्वेन उसका ज्ञान ज्ञान से ही प्राप्त होता है इसलिए आगे का आरंभ करते हैं इंद्रियेभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धिरात्मा महान पर इंद्रियभ्य पराह्यर्था इंद्रिय से अर्थ विषय चक्षुरादि इंद्रिय है विषय रूप आदि है वो से इंद्रिय से पर है किससे पर है क्यों है अभी भाष्य में बताएंगे क्योंकि विषय से अपंचीकृत भूत से इंद्र का आरंभ होता है तो भूत और उसका कारण उपादान कारण यद्यपि अपंचीकृत भूत इंद्र से गृहीत नहीं इंद्र का विषय नहीं होते सूक्ष्म है पंचीकृत विषय इंद्र से ग्राह्य है तो भी अर्थ विषय भूतात्मक इंद्र का उपादान कारण कारण होने से पर प्रकृष्ट कहा गया और अन्यत्र शास्त्र में कहा गया इंद्रिय को ग्रह और विषय को अति ग्रह कहा इंद्रिय तो ग्रहण करते हैं विषय इंद्रिय को भी खींच लेते हैं इसलिए इंद्रिय से अर्थ को पर प्रकृष्ट कहा अर्थव्यश्च परमन अर्थ से पर है मन विषय से पर है मन मन से यहाँ क्योंकि अर्थ शब्द से अपंचीकृत भूत लिया इसलिए मन शब्द से मन का आरंभक सूक्ष्म भूत लेना वो पर है क्योंकि भूत में अपंचीकृत भूत अर्थ का यदि अपंचीकृत भूत अर्थ करेंगे मन का भग अपंचीकृत भूत है तो उसमें कार्य का भाव तो नहीं है किंतु वो बताएंगे अभी कोई मन को आत्मा मानते हैं और मन है अन्नमय मन ऐसे कहा गया तो मन संकल्पात्मक वो नियामक होने से उसको पर कहा गया और मन से बुद्धि पर मन का आरंभक भूत बुद्धि का आरंभक भूत उसमें कार्य कारण भाव नहीं है किंतु मन का नियामिका बुद्धि है बुद्धि से मन का नियमन होता है इसलिए उसका परत्व का आरोप करते हैं उपादान भूत में अब बुद्धि से आत्मा महान पर बुद्धि से आत्मा यहाँ हिरण्यगर्भ लेना है आत्म शब्द का अर्थ तो बुद्धि से महान आत्मा महान बुद्धि से महान है बुद्धि का आत्मा है वो महान है वो पर है सारे बुद्धि का व्यापक होने से आत्मा हुआ और बुद्धि अन्य से सबसे व्यापक उनसे महत है समष्टि बुद्धि आत्मक हिरण्य गर्भ पर है भाष्य में स्थूलानि तावत इंद्रियाणि स्थूलानि तावत इंद्रियाणि यद्यपि इंद्रिय का आरंभ का अपंचीकृत भूत है इंद्रिय भी अतिंद्रिय है इंद्रिय अतिंद्रिय का से इंद्रिय का प्रत्यक्ष इंद्रिय से नहीं होता है इंद्रिय के विषय नहीं होते जो इंद्रिय के विषय नहीं उनको अतिंद्रिय कहते हैं चक्षुरादि इंद्रिय है किंतु चक्षुरादि इंद्रिय का प्रत्यक्ष चक्षुरादि इंद्रिय से नहीं होता है आप जो देखते हैं दूसरे का आंख कान नाक आदि है वो इंद्रिय नहीं है इंद्रिय का स्थान गोलक कहते हैं इंद्रिय की इंद्र का इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता है हाँ ज्ञान होता है तो उससे इंद्र का अनुमान करते इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्र का परमात्मा का लिंग कहते तो इंद्रिय का भी ज्ञान होगा ज्ञान है तो उसका प्रमाण होना चाहिए रूप ज्ञान हुआ तो रूप ज्ञान का कोई कारण होना चाहिए जितने क्रिया सो सकर्णी का है क्रिया करण वाला होने से ज्ञान क्रिया भी कोई कर्ण वाला ज्ञान क्रिया का कर्ण चक्षुरादि इंद्र ऐसा अनुमान करते इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो भी स्थूल इसलिए कहा कि इंद्रियों का आरंभ होता है जिन भूत से उनकी अपेक्षा स्थूल कार्य कारण की अपेक्षा स्थूल होता है इसलिए स्थूल कहा क्योंकि इंद्रिय का आरंभक अपंचीकृत भूत आरंभक होने के कारण सूक्ष्म है स्थूल हो गए कार्य इंद्रिय स्थूलानि तावत इंद्रियाणि तानि यैर अर्थेर आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि तेभ्य इंद्रियभ्य स्वकार्यभ्यस्ते परायर्ता सूक्ष्म महान्तश्च प्रत्यगात्म भूताश्च तानि इंद्रियाणि वो इंद्रिय यही अर्थे आरभ्यन्ते आरब्धानि तानि आरब्धानि यही अर्थे इंद्रिय आरब्ध हुए जिस जिस जिन से यही अर्थे अर्थ का विषय से विषय आकाश आदि भूत पंचक है आकाश आदि भूत ही अर्थ से आरंभ होती इंद्रिय अपंचीकृत भूत का कार्य है इंद्रिय पृथक पृथक सात्विक अंश का कार्य है चक्षुरादि इंद्रिय तो अर्थ से आरब्ध होते हैं अर्थ से इंद्रिय का आरंभ होता है किस लिए आत्म प्रकाशनाय आत्मा मतलब अपना अपना शब्द से किसको लेना अर्थ को लेना भूत को अर्थ से आरंभ होता है अपने प्रकाशन के लिए अर्थ का प्रकाश करने के लिए अर्थ विषय विषय ज्ञान के लिए इंद्रिय का आरंभ होता है विषय से आरंभ होता है इंद्रिय विषय का ज्ञान ज्ञान के लिए आत्म प्रकाशन है आत्म का अर्थ अपना स्व स्व शब्द से अर्थ लेना विषय स्वप्रकाशनाय विषय प्रकाशनाय प्रकाशने ज्ञान प्रकाश का था आलोक नहीं ज्ञान स्व ज्ञानाय विषय ज्ञानाय अर्थे आरब्धानि इंद्रियाणि प्रकाशनाय आरब्धानि या अधिक एक हो तो काट देना आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि प्रकाशनाय या दो है पुराने पुस्तक में प्रकाशनाय आरब्धानि प्रकाशनाय आरब्धानि आरब्धानि कानि इन्द्रियाणि तेभ्य इन्द्रियेभ्य परा तेभ्य इन्द्रियेभ्य परा हे अर्था इन्द्रियेभ्य परा है अर्था इन्द्रियेभ्य स्वकार्येभ्य स्वकार्य स्वपसे क्या लेना अर्थ अर्थ का कार्य भूत अपंजीकृत भूत का कार्य इंद्र स्वकार्येभ्य कार्यभ्य ते पराय अर्था कार्य से कारण प्रकृष्ट होता है ते पराय अर्थात अर्थ कारण है सूक्ष्म सूक्ष्म से कारण से कार्य बनता है अर्थात सूक्ष्म सूक्ष्म क्यों है घड़ा बन जाता है तो जिस मिट्टी से घड़ा बन जाता है उसी घड़ा में मिट्टी है है जिस तंतु से पट बनेगा पट में तंतु है तंतु में अनुसूत है कार्य तो बड़ा है कारण सूक्ष्म रूप से उसमें है तो इंद्रिय अनुस्यूत होने से सूक्ष्म हुआ इंद्रिय से इंद्रिय में व्याप्त है उपादान कारण कार्य में रहता है सूक्ष्म हुआ और महांतस्य सूक्ष्म कह कर कहते हैं महान भी है महान व्यापक होने से महान है और प्रत्येगात्मभूत अर्थ इंद्रियों का प्रत्येगात्मभूत प्रत्यय स्वरूप वास्तव स्वरूप है विषय पांच भूत है पांच भूत में अनात्मा कितने आत्मा कितने तो वो अनात्मा है अनात्मा को कैसे प्रत्यगात्म कहा गया प्रत्यगात्म इसलिए कहा है जैसे प्रत्यगात्मा सब अवस्था में रहता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था में रहेगा अवस्था का परिवर्तन होता है अवस्था का परिवर्तन होने से प्रत्ययात्मा का नाश होता है परिवर्तन होता है परिवर्तन नहीं होता है नाश नहीं होता है एक रूप रहता है जिस प्रकार प्रत्येगात्मा तीन अलग-अलग अवस्था में रहता है एक रूप इसी प्रकार ये सब विषय इंद्रिय में रहते हैं उनका नाश नहीं होता है क्योंकि विषय से इंद्रिय आरंभ हुआ विषय से जो इंद्रिय आरंभ होगा इंद्रिय आरंभ होने के बाद उसका आरंभक का विषय रहेगा नष्ट हो जाएगा सुवर्ण से कुंडल बनाएंगे तो जिस सुवर्ण से कुंडल बनाया वो सुवर्ण रहेगा नष्ट हो जाएगा रहता है नष्ट नहीं होता है कुंडल को तोड़ सकते हैं कुंडल तोड़ देंगे तो सोना नष्ट हो जाएगा नहीं कार्य के उत्पत्ति नाश होने पर भी कारण उसमें रहता है उत्पत्ति के पहले भी रहता है उत्पत्ति के बाद भी रहता है नाश होने के बाद ही रहेगा इसी प्रकार वो विषय भी इंद्रिय में अपा उनका नाश नहीं होता है अनिश्चित रहते हैं इसलिए उसको प्रत्यगात्मा कह दिया जैसे प्रत्येक अवस्था में रहता है प्रत्यगात्मा इसी प्रकार विषय भी इंद्रिय में रहते हैं परिवर्तन नहीं होता है रहते हैं विषय विषय विषय इंद्रिय में रहते हैं कि आरंभक आरंभक कारण कार्य में रहता है कार्य उत्पत्ति के पहले कार्यकाल में नाश होने के बाद रहता है इसे इसको प्रत्यगात्मा कहा प्रत्येगात्मा के सदृश अनपाय स्वभाव अपाय नहीं होता है टीका में दिया प्रत्येगात्म भूताश्चेति प्रत्येक अनपाई स्वरूप होता है इत्यर्थ प्रत्येक अनपाई स्वरूप तो प्रत्येक आत्मा जिस प्रकार इसी प्रकार अनपाई स्वरूप होता प्रत्येकात इनका स्वरूप का अपाय नहीं होता है नाश नहीं होता है अनपाई अपाय जिसका होता है उसको कहेंगे अपाई नाश अनपाई का तो अविनाश अविनाश स्वरूप होता है ये प्रत्यय का यहाँ है अविनाश स्वरूप इंद्रिय में कारण कारण उपादान कारण विषय रहते हैं नष्ट नहीं होते हैं इसलिए उनको प्रत्यय शब्द से कहा और स्वरूप आत्मभूत का कारण कार्य का वास्तव स्वरूप है ननु अर्थेभ्य मनस आरंभ आगे भाष्य में केभ्योपि अर्थेभ्यस्य परम सूक्ष्मतरम महत् प्रत्यगात्म भूतम चमन अर्थेभ्यश्च परमन मंत्र में कौन किस अर्थ से तेभ्य अपि अर्थेभ्य तेभ्य जिन अर्थ से इंद्र का आरंभ हुआ जो अर्थ इंद्र से प्रकृष्ट पर कहे गए उन अर्थ से भी पर है मन तेभ्यो पे अर्थेभ्यश्च उन अर्थ से भी पर है मन पर का अर्थ सूक्ष्मतरम जिसे पहले विषय को कहा सूक्ष्म महान प्रत्यय प्रत्ययात्मभूत कहा उससे पर हो गया मन इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो गया और महान भी है च सूक्ष्मतरम महत् प्रत्ययात्मभूतम च महांतः विषय पुल्लिंग होने से महांतः कहा गया था यहाँ मन नपुंसक है तो सूक्ष्मतरम महत् प्रत्ययात्मभूतम च मन किन से पर है अर्थ से विषय से पर सूक्ष्मतर भी है मन और प्रत्यगात्म होता महत भी है ये टीका में दिया है कैसे पर है बुद्धि से थोड़ा आगे भाष्य में देखो मन शब्द से क्या लेना मन शब्द वाच्यम मनस आरंभकम भूत सूक्ष्म मन शब्द वाच्यम भूत सूक्ष्म लेना या मन शब्द से मन के आरंभ को लेना मन शब्दवाच्यम मन से आरंभकम भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म मन का उपादान कारण या मन शब्द का वाच्य मन शब्द से कहा जाता है सुवर्ण के भूषण बनाए रखा गया कहते ये सोना है कह सकते हैं भूषण बहुत रखा गया क्या सोना है स सुवर्ण शब्द का वाच्य यहाँ वो सब सुवर्ण है और भूषण भी सुवर्ण है तो मन शब्द से कह दिया इसी प्रकार कार्यवाचक शब्द कहा जाता है कारण में प्रयोग किया जाता है कुंडल सुवर्ण को कहते कुंडल तो मन शब्द वाच्य सुवर्ण से कुंडल बनाया उसको सोना कह सकते हैं कुंडल कह सकते हैं दोनों कहे जाते हैं तो मन का आरंभ को को मन शब्द से कह दिया भूत सूक्ष्म मन क्या है संकल्प विकल्प आदि मन संकल्प विकल्प आदि स्वरूप है उससे मनस्व भी परा बुद्धि है मनसस्तु परा बुद्धि परा है सूक्ष्मतरा मन से सूक्ष्मतर महत्तरा प्रत्ययात्म होता है बुद्धि ये भी सूक्ष्मतर महत्तर प्रत्ययात्म होता है बुद्धि बुद्धि से क्या लेना बुद्धि सदवाच्यम अध्यवसायदि आरंभकम भूत सूक्ष्म बुद्धि सदवाच्य भूत सूक्ष्म लेना तो बुद्धि से क्या है अध्यवसायदि आरंभकम बुद्धि अध्यवसाय निश्चयात्मिका बुद्धि अध्यवसाय आदि दिया आदि बुद्धि वृत्ति का अवांतर विश्लेषण बुद्धि वृत्ति अलग-अलग वृत्ति होती सब वृत्ति के जितने सब का आरंभक भूत सूक्ष्म बुद्धि शब्द से लेना टीका में दिया ननु अर्थेभ्यो मनस आरंभकम भूत सूक्ष्म परम अर्थ से मन का आरंभक भूत सूक्ष्म पर का तस्मात् बुद्धि आरंभकम भूत सूक्ष्म परम मन मन से बुद्धि आरंभक भूत सूक्ष्म परम ये कहा गया अर्थ से पर हो गया मन का आरंभक भूत सूक्ष्म और मन आरंभ भूत सूक्ष्म से बुद्धि आरंभक भूत सूक्ष्म परम इति न युक्त ठीक नहीं है कार्यापेक्षा ही उपादानम उचितावयव उपचितावयवम व्यापकम अनपाय च प्रसिद्धम कार्य के अपेक्षा उपादान पर कहा जाता है कार्य अपेक्षा ही उपादानम पर होता है उपादान कारण कार्य की अपेक्षा उपादानम उपच उपचित अवयवम उसका उपचित अवयव जिसका उपचित बढ़कर कार्य होता है उपचित अवयव उपचित अवयवम उपचित अवयव यही कारण है जिन कारण से अवयव बढ़ता है व्यापकम कारण व्यापक है और अनपाय स्वभाव कार्य व्या, कारण व्यापक मतलब सब कार्य में कारण रहता है कारण में कार्य नहीं कार्य में कारण व्यापक और अनपाय स्वरूपम उसका स्वरूप का अपाय नाश नहीं होता है कार्य को कुंडल को मुकुट को तोड़ सकते हैं किंतु सोना तो रहता है सोना का नाश नहीं होता है कारण अनपाय स्वरूप हुआ ये प्रसिद्ध है कार्य के अपेक्षा उपादान पर है पर होने में एक उपचिता अवयव उपचिता अवयवा यही कारण है अतः ये न कारण तत्कारणम उपचितावयवम उपादान व्यापक है कार्य में व्याप्त है और अनपाय स्वभाव कारण है ये तो प्रसिद्ध है ये कहाँ प्रसिद्ध है यथा घटादि मृदादि घट कार्य के अपेक्षा मिट्टी पर है पर कैसे उपचितावय उपचित अवयव यही मिट्टी से घट का अवयव होता है कपाल बनता है कपाल से घट हो जाता है इसी प्रकार व्यापकम घट में मिट्टी व्याप्त है अनपाय स्वरूपम घट बनने के पहले मिट्टी थी घट बनने के बाद ही मिट्टी है तोड़ने के तो मिट्टी रहती उसका नाश नहीं होता है वो प्रसिद्ध है कार्य से कारण उपादान पर है न चाहिए भूत सूक्ष्माणाम परस्पर भाव भावे मानमस्ति यहाँ विषय से क्या लेना स्थूलभूत या सूक्ष्मभूत सूक्ष्मभूत और मन शब्द से ये सूक्ष्म भूत भूत सूक्ष्म अब बुद्धि शब्द से भूत सूक्ष्म सारे सब बुद्धि भूत सूक्ष्म है इनमें तो परस्पर कार्य कारण भाव ही नहीं ना तो विषय से मन ना मन से बुद्धि ऐसे तो कार्य कारण भाव नहीं भूत सूक्ष्म परस्पर कार्य कारण भाव प्रमाण नहीं है तो ये कैसे परपर कहा ये ठीक नहीं न युक्तम परमित न युक्तम पूर्वपक्षी शंका करने वाले कहा पूर्वपक्षी परमित न युक्तम क्योंकि कोई प्रमाण नहीं इतने होने पर सिद्धांतिकता सत्यम तुमने जो कहा ठीक है तथा भी विषयेन्द्र व्यवहार से मनोधीनता दर्शनात् विषयेन्द्र व्यवहार होता है मन के अधीन विषय से इंद्रिय से विषय का ग्रहण होता है विषय इंद्रिय संबंध होकर व्यवहार होता है ज्ञान होता है इंद्रिय से विषय का ग्रहण मनोधीनता दर्शनात् मनोधीन दिखता है यदि मन नहीं तो इंद्रिय से विषय का ग्रहण नहीं होता है अन्यत्र मना अहुम ना अदर्शम ना श्रोसम नहीं देखा नहीं सुन सका मन के अधीन होता है इंद्रिय से विषय ग्रहण के लिए मनो अधीन मनोधीनता दिखता है मनस्तावत व्यापकम कल्पते मन हो गया व्यापक प्रत्येक इंद्रिय से विषय ग्रहण होने के लिए मन के अधीन मन का संबंध तार्किक लोग कहते इंद्र के साथ मन का संयोग होगा तब विषय ग्रहण होगा जिस इंद्र के साथ मन का संयोग होता है उस इंद्र से विषय ग्रहण होता है और अन्य इंद्र से विषय ग्रहण नहीं होता है इसलिए एक साथ रूप रस स्पर्श आदि ग्रहण एक साथ नहीं होता है ये मन एक है उसको सिद्ध करने के लिए सूत्र है युगपज ज्ञानानु अनंतपत्ति मानसो लिंगम एक साथ ज्ञान नहीं होता है क्रम से होता है लगता है एक साथ होता है करके देख रहे हैं शब्द सुन रहा है सुन रहे हैं देखते समय शब्द नृत्य आदि देखते हैं तो दिखता है और शब्द भी सुनाई पड़ता है उस समय कुछ खाते भी रहते हैं रस ग्रहण भी होता है और सुगंध दुर्गंध भी होता है तो ये गंध रूप रस सब तो एक साथ ग्रहण होता है और शब्द सुनते सब लगता है एक साथ ग्रहण होता है एक साथ ग्रहण नहीं होता है जैसे कमल सप्तदल ये पुष्प के एक एक पांख निकाल करके ऐसे रखेंगे ऐसे रख करके कहेंगे सुई से वेदन करो एक साथ वेदन हो जाएगा सुई कितने समय लगेगा हाँ? किंतु एक साथ नहीं होता है क्रम से होता है प्रथम तो पहला प्रथम का वेदन उसका द्वितीय का उसका तृतीय का क्रम से होता है किंतु इतने जल्दी होता है लगता है एक साथ हो गया ऐसे सो लेकर कहता एक साथ तो चला गया जल्दी होने के कारण लगता है एक साथ तो हुआ किंतु क्रम से होते हैं इसी प्रकार विषयों का ग्रहण इंद्रिय से एक साथ नहीं होता है जिस इंद्रिय के साथ मन का संयोग होगा उसी इंद्रिय से विषय का ग्रहण होगा उसके बाद इंद्रिय इतने जल्दी मन दौड़ने वाला है ये तो प्रसिद्ध है मन सौ से शीघ्र गामी बस दूसरे इंद्र के पास इतने जल्दी चले जाता है मन उसका ग्रहण होता है फिर इसका ग्रहण होता है जल्दी जल्दी ग्रहण होने से लगता है एक साथ है शीघ्र शीघ्र होने से लगता है एक साथ सब ग्रहण होता है ऐसे अलात चक्र अग्नि जला करके जोर से घुमाओ गोल दिखता है गोल कहाँ है तो एक बिंदु है यहाँ है तो यहाँ नहीं यहाँ है तो यहाँ नहीं किंतु इतने जल्दी घुमाने से लगता है गोल होकर के पूरा इसी प्रकार मन शीघ्र शीघ्र दौड़ कर इंद्र के साथ संबंध हो जाता है विषय का ग्रहण होता है लगता है शब्द रूप रस आदि का ग्रहण एक साथ होता है ऐसे लगता है एक साथ नहीं होता है मन हो गया व्यापक प्रति इंद्रिय के साथ ग्रहण संबद्ध होकर के इंद्रिय से विषय ग्रहण होता है इसलिए मन हो गया व्यापक तो दिया इंद्र व्यवहार से मनोदिनता दर्शनात् मनस्तापत व्यापकम कल्पते मन व्यापक हो गया इंद्र के व्यापक सब इंद्र के साथ मन संबद्ध होता है और वेदांत में तो बताते इंद्रिय के द्वारा मन बाहर जा के विषयाकार हो जाता है व्यापक हुआ तच्च परमार्थतेव आत्मभूतमिति केशांचित भ्रम कुछ लोग मन को आत्मा मानते चार वाक्य के भेद कोई शरीर को कहते कोई इंद्रिय को कोई प्राण को कोई मन को आत्मा मानते हैं भ्रम है मन आत्मा अब आगे कुछ नहीं लगता है मनुष्य और क्या है भ्रम होता है तो निराशा है उत्तम मन सदवाच्यम भूत सूक्ष्ममिति इसलिए मन शब्द से भूत सूक्ष्म लेना उसका उपादान का नाम भूत है वो जड़ है अनात्मा है आत्मा नहीं है यही आत्मा को वास्तव स्वरूप को जो विष्णु का परम परम पदम उसका ज्ञान करना है आत्मत्वेन प्रत्येगात्मत्वेन उसी तत्व को दिखाने के लिए यह स्थूल न्याय से स्थूल स्थूल पदार्थ से सूक्ष्म सूक्ष्मतर करके क्रम से उसको दिखाने के लिए ही प्रकरण है इसीलिए मन सद्वाच्य भूत शिक्षों का क्योंकि कोई मन को आत्मा मानते हैं उस मत निराश करने के लिए मन सद्वाच्य भूत शिक्षों कहा और जो मन होता है श्रुति में आया अन्नमयम हि सौम्य मन इत्यादि श्रुतेर भौतिकत्व अवगमात अन्न भावा भावाभ्याम उपचयापचय दर्शनाद भौतिकमेव तत् अन्न भौतिक है भूत का कार्य है मन सदा से भूत सूक्ष्म इसलिए कहा मन मन होता है अन्न का कार्य अन्नमय में सौम्य मन अन्न मन भौतिक है भूत का कार्य भूत का कार्य इसमें क्या प्रमाण है पहला श्रुति प्रमाण दिया अन्नमय है सौम्य मन मन अन्नमय यद्यपि पांच भूत का समस्या सात्विकों से बनता है तो अन्नमय श्रुति में कहा गया अन्नमय अन्न से उसके वृद्धि होती है सामर्थ्य शक्ति बढ़ती है अन्न से हास हो जाता है भौतिक तो अवगमात अन्नमय समय श्रुति से भौतिक निश्चय हुआ अन्न भावा भावाभ्याम उपचय अपचय दर्शनात् ये के माया श्वेत केतु ने पूछा अन्नमय मन कैसे हुआ तो उसको कहे तुम प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो भोजन नहीं करो पंद्रह दिन भोजन छोड़ करके आया तो बोला सुना वेद पढ़ा बोलो कुछ बाहर नहीं होता है फिर क्या थोड़े थोड़े खाओ तो उसे खा कर पंद्रह दिन गया तो सुनाओ तो पूरा सुना दिया अर्थ के साथ तो अन्न छोड़ देता है तो स्मरण नहीं होता है दो दिन एक दिन दो दिन एक दिन दो दिन छोड़ दिया तो इतने भूख लगी तो और पढ़ने के लिए कहाँ मन लगता है मन एकदम सर खाली हो जाता है जो कंठ थे वो भी भूल जाते हैं तीन चार पंद्रह दिन क्या तीन चार दिन में भी करना है तो अन्न भावे मन से उपचय अन्न से अभावे मन से अपचय भावा भावाभ्याम अन्न भावे खाना पर मन में वृद्धि शक्ति होती है अब भूखा रहा कुछ नहीं आता है खाने के बाद फिर बोलने लगा अभावे अपचय होता है दर्शनाद अब भौतिकमेव तत् अन्न भौतिक वा भूत का कार्य और मन होता संकल्पात्मक तस्य च संकल्पादि लक्षणस्य मन है संकल्प विकल्पात्मक मन है संकल्पादि आदि लक्षण स्वरूपम यस्य किंतु बुद्धि है अध्यवसायात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि अध्यवसाय नियम्यत्वाद बुद्धि से नियमित होता है मन मन को नियमन करने के लिए बुद्धि है इसे मनीषा कहते बुद्धि को मन से ईसा मनीषा मन को भी शासन करने वाले बुद्धि है अध्यवसाय बुद्धि से नियम्य है मन नियम्य होने से बुद्धि ततः परम बुद्धि मन से भी पर हो गई क्योंकि उसका नियामक है बुद्धिश्च आत्मा इति केसांचित अभिमान बुद्धि को आत्मा मानते हैं विज्ञानवादी बौद्ध तेषां संते तु मतयस्ते तासां विवर्तो किल योगाचार मते तो संति मते योगाचार मते बुद्धि है तासाम विवर्त अखिल बुद्धि का विवर्त सारा ब्रह्मांड है मति है बुद्धि बहुचन दिया क्षणिक प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश होने वाले बुद्धि ज्ञान वो बुद्धि ज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ है ही नहीं है बाहर जो पदार्थ दिखते हो ज्ञान बुद्धि ही है बुद्धि का विवर्त है जैसे वेदांति कहते हैं सारे प्रपंच ब्रह्म का विवर्त विवर्त का अर्थ तो अतात्विक अन्यथा भाव वास्तव अन्यथा भाव नहीं होता है वास्तव अन्यथा भाव तो उसको कहते परिणाम दुग्ध का दधि तो परिणाम वास्तव अन्यथा भाव अतात्विक अन्यथा भाव को कहते विवर्त जैसे रज्जु का सर्प भ्रांति काल में सर्प दिखता है रज्जु ही सर्प रूप से दिखती है और जो रज्जु में अन्यथा भाव है वास्तव उस समय रज्जु सर्प बन जाती है अतात्विक अन्यथा भाव दिखती है कि दिखता केवल सर्प है ही नहीं सर्प दिखते समय भी रज्जु ऐसे ही है अन्यथा भाव नहीं होता है इसलिए अतात्विक अन्यथा भाव उसको विवर्त कहते हैं योगाचार मत में बुद्धि है आत्मा आत्मा शब्द से नहीं कहते जो बुद्धि है उससे अतिरिक्त आत्मा कोई पदार्थ नहीं वही आत्मा है उसका विवर्त सारा प्रपंच बाहर जो पदार्थ दिखता है बुद्धि का विवर्त इसे कहते हैं बौद्धों का तो मुख्य मत है शून्य है असत है तुच्छ है उसका विवर्त सब है और दूसरी मत है योगाचार मत बुद्धि आत्मा इनका अभिमान है उसके निवृत्ति करने के अपने महा बुद्धि वाच्यम इसे बुद्धि शब्द से लेना बुद्धि वाच्य भूत सूचना लेना है बुद्धि अध्यवसाय आदि आरंभकम भूत सूचना लेना करणत्वाद इंद्रियवत बुद्धेर भौतिकत्वम सिद्धम टीका में देखो कर्णत्वाद इंद्रियवद वत छूट गया इंद्रियवत बुद्धेर भौतिकत्वम सिद्धम ये तो शब्द ऐसे दे दिया तर्क पढ़ने वाले समझ लेंगे इसे अनुमान है कर्णत्वाद इंद्रियवत बुद्धेर भौतिकत्वम सिद्धम इस हेतु प्रतिज्ञा उदाहरण सब है कर्णत्वाद पंचमेत हेतु हो गया कर्णत्वाद आगे इंद्रियवत दृष्टांत हो गया उदाहरण हो गया बुद्धेर भौतिकत्वम बुद्धि में भौतिकत्वम बुद्धिर भौतिका भौतिका हम्म भौतिक क्षय हो जाए तो सिद्ध दी भौतिकी हो जाएगी बुद्धिर भौतिकी कर्णत्वात् इंद्रियवत बुद्धि भौतिक है क्योंकि कर्ण है जैसे इंद्रिय सिद्ध हो गया बुद्धिर भौतिकी कर्णत्वाद इंद्रियवत अनुमान है तो बुद्धि भी जैसे इंद्रिय कर्ण है भूत से आरब्ध है बुद्धि भी कर्ण है इसलिए भूत आरब्ध है किंतु कर्ण बुद्धि कैसे है सब बुद्धिया हम उपलभे इति अनुभवा सिद्धम सबुद्ध्या अहम के दिया है गे उप उपलभे लभ्य नहीं लभ्य है क्या लभ्य नहीं उपलभे व्य नहीं यह नहीं चाहिए सबुद्ध्या अहम उपलभे मैं उपलम्ब कर रहा हूँ देख रहा हूँ अपने बुद्धि से निश्चय कर रहा हूँ आम उपलभे उपलभ्य नहीं आम उपलभे कर्तव्य में उपलब्ध कर रहा हूँ देख रहा हूँ निश्चय कर रहा हूँ बुद्धिया बुद्धि से मैं निश्चय कर रहा हूँ अपने बुद्धि से मैं निश्चय कर रहा हूँ तो बुद्धि हो गया हो गई कर्ण हम सब बुद्धिया उपलब्ध है अपने बुद्धि से मानो का उपलब्ध कर रहा हूँ निश्चय कर रहा हूँ तो जैसे इंद्रिय न पश्य में आँख से देख रहा हूँ बुद्धि से मैं निश्चय कर रहा हूँ ये अनुभवात करणत्वम सिद्धम तत भूतावयव संस्थाने सेव अर्थादिषु उत्तरोत्तरम परावरत्वम कल्प्यम परम पुरुषार्थ दिदर्शयिषया वस्तु बुद्धि से नियमित है मन मन के अधीन इंद्रिय और इंद्रिय आरब्ध है विषय से इसलिए विषय से इंद्रिय इंद्रिय से पर हो गया विषय अर्थ से पर है मन मन का नियामिका उनसे मन से बुद्धि ऐसे कहा गया और ये सब भौतिक है आत्मा नहीं है अनात्मा है इसको दिखाने के लिए सूक्ष्मतम आत्म तत्व को दिखाने के लिए प्रकरण है उसको दिखाने के लिए परम पुरुषार्थ सया परम पुरुषार्थ का दर्शयितुम इच्छया परम पुरुषार्थ जो परम पद प्रत्येगात्मत्व ने उसको ज्ञान कराने के लिए ये प्रकरण है इसलिए भूत अवयव संस्थानेषु भूतों का अवयव संस्थान अवयव का सन्निवेश विषय भी भूत अवयव से बनते हैं घटपट रूप रस घटपट आदि इंद्रिय भी विषय के भूत अवयव से बनते हैं मन भी भूत अवयव से बुद्धि भी है सब का आरंभ भूत का भूत है अवयव अवयव का संस्थान सन्निवेश अवयव का संयोग होकर बनता है कार्य तो भूत अवयव संस्थान में भौतावय संतान कौन कौन है अर्थ इंद्रिय मन बुद्धि भूतावय संस्थान से अर्थादिषु उत्तरोत्तरम परावरतम कल्प्यम उत्तरोत्तर परावर उत्तरोत्तर परतम पूर्व पुरुष से अवरतम उत्तरोत्तरम पहला है इंद्रिय उससे पर हो गया हैं अर्थ उससे पर हो गया मन मन से पर बुद्धि परापरतम परापरतम हां परापरतम परतम अपरतम परापरतम परतम अपरतम उत्तरोत्तर परतम पूर्व पूर्व अपरतम परापरतम कल्प्यम कहीं कहीं परत्वम भी पाठ है कोष्ठ में दिया उत्तरोत्तरम परत्वम सूर्याष्टक में भूत सूक्ष्म हां एक हाँ वो स्थूल शरीर को उपादान दिया भूत शिक्षकों को क्या श्लोक बोलो पूरी अष्टक हाँ तो पूरी अष्टक में कहा भूत सूक्ष्म नहीं कहा हाँ वहाँ तो कहा गया भूत सूक्ष्म तो तो पूरी अष्टक में तो क्या बाघादि पंच वो भूत शब्द से लिया क्या दिया बाघादि पंच श्रवणादि पंच हाँ वो हो गया अलग तो भूत शिक्षण शब्द से वो तदंतर प्रतिपतो रहति रहते अधिकरण में भूत सूक्ष्म शब्द से अपंचीकृत भूत नहीं पंचीकृत भूत का सूक्ष्म अवस्था कहा यहाँ तो सामान्य भूत सूक्ष्म से अपंचीकृत हो पंचीकृत सूक्ष्म लो कोई इसमें आपत्ति नहीं सूक्ष्म भूत लेना है आरंभ का किंतु सूक्ष्म क्या होता है अपंचीकृत लेना पड़ेगा क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि का आरंभक पंचीकृत भूत का सूक्ष्म अवस्था नहीं है अभी तो अपंचीकृत होते हैं यहाँ आरंभ का अपंजीकृत टाइम से यहाँ भूत सूक्ष्म शब्द से अपंजीकृत सूक्ष्म भूत को लेना पड़ेगा किंतु वहाँ जो भूत सूक्ष्म है देह का आरंभ को देह का आरंभ भूत सूक्ष्म से भूत अपंजीकृत भूत का सूक्ष्म सूक्ष्म रूप है पंचीकृत भूत के सूक्ष्म रूप लेना पड़ा देह का आरंभ को और इंद्रिय मन बुद्धि का आरंभ को अपंजीकृत भूत इसलिए यहाँ भूत सूक्ष्म शब्द अपंजीकृत भूत लेना पड़ेगा हाँ अपंजीकृत भूत यहाँ भूतों के सूक्ष्म अवस्था भूत की सूक्ष्म अवस्था पंचीकृत भूत है तो यहाँ भूत सूक्ष्म शब्द से अपंचीकृत भूत लेना है क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि का आरंभ जो भूतों की सूक्ष्म अवस्था भूत के सूक्ष्म रूप क्या है अपंचीकृत भूत यहाँ लेना है किंतु वहाँ देह का आरंभ का जो भूत सूक्ष्म का देह स्थूल शरीर स्थूल शरीर का आरंभ का भूतों के अपन वहां पंचीकृत भूत के सूक्ष्म अवस्था वहाँ है सर्वत्र भूत सूक्ष्म शब्द से अपंचीकृत था अपंचीकृत ऐसा कोई नियम नहीं यहाँ भूत सूक्ष्म शब्द से अपंचीकृत होता तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि मन इंद्रिय बुद्धि का उपादान कारण अपंचीकृत भूत है और वहां देह का आरंभक भूत सूक्ष्म कहा गया रंगति अधिकरण में तो देह स्थूल है उसका आरंभक वहाँ पंचीकृत भूत है पंचीकृत होते ही सूक्ष्म अवस्था यहाँ परम पुरुषार्थ आत्म तत्व दिखाने के लिए भूत अवयव संस्थान में अर्थात में उत्तरोत्तर परत्वम ऐसे कल्पना क्रिया कल्पना हुई कल्प्यम किसलिए परम पुरुषार्थ दिदर्शया परम पुरुषार्थ दिखाने की इच्छा से यहाँ वास्तव इंद्रिय अर्थ मन में कौन पर है कौन अपर है ये दिखाने में तात्पर्य नहीं है उसको दिखाने के लिए यहाँ परापर कल्पना करके उसको दिखाना है वस्तु तो तात्पर्य नहीं है न त्वर्तादि नाम परत्वम प्रति प्रतिपिपादयितम प्रयोजन भावात वाक्य वेद प्रसंगाचेति अर्थादि में परत्व प्रतिपादन करने के इष्ट नहीं है यहाँ इंद्र से अर्थ पर अर्थ से मन पर ये परापर प्रतिपादन करने की इच्छा से नहीं कहा गया जो अत्यंत सूक्ष्म परम पुरुषार्थ आत्म तत्व उसको प्रतिपादन ज्ञान कराने के लिए ये सब स्थूल सूक्ष्म बता दिया यहाँ कोई विवक्षित नहीं अर्थ से पर इंद्रिय से पर अर्थ अर्थ से पर मन मन से पर बुद्धि ये नहीं विवक्षित नहीं है क्यों नहीं ऐसा पर पर कहा गया तो विवक्षित क्यों नहीं अर्थादि में परत्वम प्रतिपादयितम इष्टं क्यों नहीं प्रयोजन अभावात प्रयोजन प्रयोजन के इंद्र से पर अर्थ अर्थ से पर मन उसको जानने से कुछ और प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है इसलिए इसमें इस विवक्षा नहीं है और दूसरी बात है ये वाक्य का तात्पर्य देखना पड़ेगा क्या कहना चाहती श्रुति क्या वस्तुतः परम ब्रह्म को दिखाना चाहती या इंद्रिय से अर्थ परय इसको बताना चाहती इंद्रिय से अर्थ पर या अर्थ से इंद्रिय पर इसमें कहीं कहीं अर्थ से इंद्रिय पर भी कहते हैं कहीं इंद्रिय से अर्थ पर कह दिया इसमें मतभेद हो जाएगा फिर यहाँ विरोध हो जाएगा मन इंद्रिय से पर मन से बुद्धि आरंभ को लेना आरंभ को नहीं लेंगे तो स्थूल लेंगे तो भी परापर कैसे होगा नियम नियामक है किंतु व्यापक प्रत्यगात्म ये सब कैसे बनेगा ये विवक्षित नहीं है एक अर्थ विवक्षा करने के लिए कुछ अन्य कहते हैं अर्थवाद वाक्य में जिस प्रकार बहुत कहते हैं कहते हैं निंदा स्तुति में लक्षणा करते हैं एक कुछ प्रतिपादन करने के लिए जितने आख्यायिका है श्रुति में है कथा रूप से है संवाद है आख्यायिका में तात्पर्य नहीं है कहीं ये तो कुछ अर्थ प्रतिपादन करने के लिए सरल से ज्ञान हो जाए इसी प्रकार आख्यायिका के माध्यम से उपदेश किया गया ये आख्यायिका नहीं करके सीधा जैसे तर्क में लक्षण आ गया सीधा सीधा लक्षण सुन से डर लग गया सा, साध्यता अवश्य संबंध अवश्य ना साध्यता अवश्य देखा अवश्य न प्रत्युताग प्रतियोगिता से संबंध आवश्यक प्रतियोगिता आवश्यकता आवचन आगे वैदिकान्य आवश्यक अब बत निरपित हेतुता से संबंध आवचन वृत्ति तत्व आवचन ऐसे कहने पर डर लगे क्या कहना चाहते हो व्याप्ति लक्षण करने के लिए ज्ञान आदि कण से कुछ नहीं कह करके गंध समानाधिकरण द्रव्य तो आप जाति मत तो समझने पर तो सरल है नहीं तो पहले बड़ा कठिन लगता है उसको इसलिए बहुत लोग डरते हैं कहते कठिन है नहीं समझने का ना और युधिष्ठ नाम के राजा था बच्चा भी हां करता अच्छा उसके बाद क्या हुआ <laughs> तो कुछ कहने पर बच्चे बोलता और कथा सुनाने पर बच्चे भी खुश होता है ऐसे कहते एक राजा था राजा था उसके पांच पुत्र हां पांच पुत्र क्या है कैसे तो दो तो गर्भ से नष्ट हो तीन गर्भ से ही नष्ट हो गई और ना तीन पुत्र का गर्भ से नष्ट हुई और दो गर्भ में आए ही नहीं थे तो फिर पांच पुत्र अभी हाँ है अभी भविष्य नगर में कहाँ है भविष्य नगर में जो आगे नगर बनेगा वहाँ है और अभी भी सब में जा करके क्रीड़ा कर रहे हैं तो बच्चा हाँ हाँ करता है कथा सुनने पर ऐसे खुश हो जाते हैं बच्चे तो ऐसे उसका अर्थ क्या नहीं समझ कर हाँ हाँ करता है तो इसी प्रकार बच्चों को जैसे कथा सुनाते श्रुति इस प्रकार आत्म तत्व को बताने के लिए कथा के माध्यम से बताती है तो खुश होकर बैठेंगे तभी बैठना कठिन होता है भाग जाते छोड़ करके तो श्रुति जानती है यदि से इसे सीधा सीधा कहेंगे श्रवण कोई नहीं करेगी इसलिए संवाद कथा रूप से कहेंगे कहते अभी चल रहा है नचिकेता यमराज संवाद सामने देखे यमराज खड़े नचिकेता को उपदेश कर रहे यमराज बैठे अपने आसन पर नचिकेता हाथ जोड़कर खड़ा है उसको उपदेश कर रहे थोड़े यमराज को याद करो तो सुनने की इच्छा होगी <laughs> कहीं कह मरण का यमराज यहाँ आचार्य है तो सुनते समय यमराज को सामने देखो यमराज बोल रहे हैं नचिकेता को तो यमराज का स्मरण करेंगे तो थोड़ा वैराग्य होगा जब एक अनंत समापत्ति आया ध्यान करते समय एकाग्र नहीं होता है तो अनंत का चिंतन करो अनंत सहस्र फण वाले न सर्प है हजार फण वाले सप्र आपके सामने से रहा है ऐसा चिंतन करो मन एकाग्र होगा मन नहीं भागता है ना ध्यान कर सोचो सामने बहुत बड़े सर्प जिसमें एक हजार फण है ऐसा सर्प ऐसा करे ऐसा विचार करेंगे तो डर लगे ना नहीं ऐसे विचार करें तो मन एकाग्र होगा उसको देख सोचते रहो एक हजार फण एक सर्प के लिए भी बहुत दूर में रहता तो भी डरते हैं एक हजार फण वाला सर्प और सामने आपके है सामने थोड़े असावधान हो तो कोई एक लगा दिया तो गया ऐसे अनंत समापत्ति मन एकाग्र करने के लिए समाधि के लिए योग सूत्र में कहा गया इसी प्रकार यहाँ यमराज को आख्यायिका में तात्पर्य नहीं है आख्यायिका के माध्यम से परम तत्व तो बताते हैं इसी प्रकार यहाँ आख्यायिका में ये उसका पुत्र इसका पिता उसके पिता का माता का नाम है उसका नाम क्या है ऐसे में कोई तात्पर्य नहीं है सामान्य लोग पूछें बताओ रावण के माता के पिता का नाम कौन बताओ उनके माता के माता के माता के नाम बताओ कौन बता सकता है कोई बता सकता है शास्त्र में नहीं मिलेगा दोस्तानी तीन चार पाड़ी पीढ़ी के बाद वो नहीं मिलेगा ये सब इसमें कोई तात्पर्य नहीं नाम आदि याद रखने में कोई मतलब नहीं है उसमें तत्व का उपदेश सब पुराण में जो वेदांत प्रतिपाद्य तत्व उसको उपदेश करने के लिए आएगा यहाँ भी कोई प्रयोजन नहीं इंद्र से पर मन मन से विषय पर ये सब कहने के लिए विषय कौन पर इसमें कोई प्रयोजन नहीं और यदि प्रतिपादन करेंगे एक वाक्य का तात्पर्य एक अर्थ में होता है नहीं तो क्या होगा प्रतिपाद्य भेद होगा तो उसको कहते वाक्य भेद वाक्य से भेद नानात्वम एक अर्थ का प्रतिपादक पूरा प्रकरण मिल करके एक अर्थ प्रतिपादन करने के लिए वाक्य है वही परब्रह्म को प्रतिपादन करना है यदि उसको भी प्रतिपादन करना और इंद्रिय से अर्थ को पर कहना अर्थ से मन को पर कहना ये तात्पर्य मानेंगे तो ये प्रकरण का तात्पर्य एक अर्थ में नहीं हुआ अलग अलग अर्थ तो हुआ इसको कहते वाक्य भेद दो वाक्य में दो अर्थ का प्रतिपादन करना है एक अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए एक वाक्य यहाँ एक वाक्य शब्द वाक्यत्व का अर्थ सुतिंग एक तिंग वाक्य में ऐसा नहीं है व्याकरण में तो एक तिंग वाक्यम एक तिंगंत क्रियापद हो गया तो एक वाक्य हो गया और न्याय में कहेंगे पद समूह वाक्यम यहाँ एकार्थ प्रतिपादकत्वम एक वाक्यत्वम एक अर्थ का प्रतिपादक प्रकरण बहुत वाक्य मिल करके एक वाक्यत्वम दर्शपुनवास से विधान करने वाले वाक्य दर्श पूर्णिमा से मस्जिद स्वर्ग काम प्रयाजन याज वाक्य सब मिल करके एक वाक्य होता है इसी प्रकार यहाँ एक अर्थ का प्रतिपादक परम पुरुषार्थ का प्रतिपादक हो तो एक वाक्य तो है अब परम पुरुषार्थ ब्रह्म का प्रतिपादन करेंगे और इंद्र मन आदि में परापर कहेंगे तो वाक्य भेद प्रसंग है और वाक्य भेद दोष बड़ा दोष होता है मीमांसा में वाक्य भेद प्रसंगाच जहाँ वाक्य भेद प्रसंग होता है वो नहीं इष्ट नहीं होता है इसलिए यहाँ कौन किससे पर कौन किससे पर कौन क्या ये सब कहने में तात्पर्य नहीं है हाँ कल्पना करके ऐसे नियम में नियम के भावे भूता आरंभक सूक्ष्म भूत में ऐसे कल्पना करके पर पर कहते कहते अंदर चलो आगे चलो ये नहीं आगे चलो ये आत्मा नहीं है मन को कोई आत्मा कहते आत्मा नहीं भूत सूक्ष्म उसे पर बुद्धि बुद्धि को के आत्मा कहते छोड़ो आगे चलो छोड़ कर आगे चलना है जा करके तत्व को समझना इसलिए यहाँ तात्पर्य इसमें कोई आत्मा और शब्द नहीं है एक प्रत्येगात्मा कैसे होगा जड़ मन आत्मा कैसे होगा इसलिए आत्मा जो कहा गया आत्मत्वात भूत सूक्ष्म परम जो कहा है आत्मा नहीं है आत्मा ब्रह्म लोगों का है किस मत में उसके निराश करने के लिए आत्मा शब्द से जो कहते हो भूत भौतिक है आत्मा नहीं है ये अभिप्राय है सुर नर त्रियगादि बुद्धि नाम विदारकत्वात् सातत्य गमनाद आत्म उच्यते सूत्र संज्ञकम हैरण्य गर्भ तत्व इत्यर्थ सुर नर तिरेक आदि बुद्धि नाम सब जीव की बुद्धि है मनुष्य की बुद्धि थोड़ी विकसित है पशु पक्षी में विकास विकास कम है पेड़ पौधे में और कम है देवता से तिरेक आदि सब की बुद्धि है सारे बुद्धि का विदारक होने से समष्टि बुद्धि है हिरण्यगर्भ सातत्य गमनात् अतः सातत्य गमन आत्मा होता है निरंतर गमन सर्वत्र व्यापक होने से आत्मा उच्यते सूत्र संज्ञक हिरण्यगर्भ तत्व हिरण्यगर्भ तत्व जिसको सूत्र आत्मा कहते उसको आत्मा शब्द से कहते हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि उपहित भाष्य में आया बुद्धेर आत्मा महान पर आत्मा शब्द से कहते सर्व प्राणिनाम बुद्धिनाम प्रत्यगात्म भूतत्वात् आत्मा महान सर्व अव्यक्ता अव्यक्ताद यत प्रथम जातम हरणगर्भम तत्वम बोधा बोधात्मकम महान आत्मा बुद्धे परैतु चरे बुद्धेर आत्मा महान पर बुद्धि से आत्मा महान है मनुष्य से बुद्धि परा हो गई बुद्धि से आत्मा महान है आत्मा है कौन आत्मा है हिरण्यगर्भ तत्व है आत्मा महान और पर है आत्मा कैसे कहा गया उसको सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्येगात्म भूतत्वात् सारे प्राणियों की बुद्धि का प्रत्येक आत्मा भूते स्वरूप हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि अभिमानी है आत्मा आत्मा का प्रत्येक आत्मा वास्तव स्वरूप आत्मा वह महान महान के सेवा सर्व बुद्धि व्यापक होने से सर्व बुद्धि व्यापक होने से सर्व महत्वाद हो गया व्यापक होने से आत्मा का महान का और अव्यक्ताद यत प्रथम जातम आत्म शब्द का बुद्धि व्यापकता आत्म शब्द का अर्थ सर्व हां बुद्धि व्यापकों से आत्म शब्द का अर्थ का सर्व अर्थ और महान शब्द का अर्थ हो गया बुद्धि और तर सब का व्यापक बुद्धि का व्यापक व्यापक है बुद्धि व्यापकत्वम आत्म शब्द का अर्थ और महत शब्द का अर्थ है बुद्धि बुद्धि बिना सब का व्यापक महत कौन से बुद्धि बुद्धि बिना सब का व्यापक वह आत्मसोदन से आत्म बुद्धि का व्यापक सारे बुद्धि का व्यापक प्रत्यगात्म भूतत्व आत्मा सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यगात्म भूतत्व आत्मा सब बुद्धि का व्यापक कौन से आत्मा हुआ और महान क्यों हुआ सर्व महत्वाद सर्व महत्व मतलब बुद्धि बुद्धि बिना सबसे बड़ा है इसलिए महान हुआ अव्यक्ताद यत प्रथम जातम हिरण्य गर्भम तत्वम अव्यक्त माया से उत्पन्न होता प्रथम जातम हिरण्य गर्भ माया विशिष्ट चेतन माया उनसे चिदाभास रहेगा चिदाभास विशिष्ट माया से ही पहले हिरण्य गर्भ होता है हिरण्य गर्भ सीदम हिरण्य गर्भ तत्वम बोधा बोधात्मकम और बोध और अबोध दोनों है बोध अबोध कैसे है अभी टीका में सूत्र संज्ञकम हिरण्य गर्भ तत्वम बोधा बोधात्मकमिति ज्ञान क्रिया शक्ति आत्मकमिति अर्थ ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति को लेकर बोध सत्य के लेकर अबोध वही समष्टि बुद्धि समष्टि प्राण भी कहते हैं अथवा अधिकारी पुरुषा अभिप्रायण बोधात्मकत्वम अधिकारी पुरुष हिरण्यगर्भ होता है समष्टि जीव है अधिकारी पुरुष चेतन अभिप्राय से बोधात्मक का अव्यक्त से आद्य परिणाम उपाधि ये उपाधि अव्यक्त का आद्य परिणाम उपाधि उपाधि क्या है अपंचीकृत भूतात्मक अपंचीकृत भूतात्मक उपाधि है समष्टि बुद्धि प्राण अपंचिकत भूत है तेन रूपेण अवधात्मकत्व जड़ है पंचिक अपंचिकत भूत उस रूप से अबोध जड़ात्मक है और अधिकारी पुरुष चेतन है बोधात्मक दोनों मिला करके बोधाबोधात्मकम अबोधात्मक है बोधात्मक बोधात्मक हो गया चेतन और अबुद्धात्म गया उपाधि इसी प्रकार जो चैत्र मैत्र आदि हम कहते हैं तो बोधा बोधात्मक है चेतना अभिप्राय से बोध और देहादि उपाधि को लेकर के अबोध जड़ चेतन मिल करके शुद्ध चेतन नहीं देवदत्त शब्द से लोक में कहा जाता देवदत्त गच्छति देवदत्तयम ये जो कहते हैं शुद्ध चेतन नहीं है शुद्ध चेतन तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं दिखता है जिसको हम देखते हैं देहादि उपाधि विशिष्ट देहादि उपाधि को लेकर के तो अबोधात्मक और उपाधि युक्त उपहित चेतन है बोधात्मक बोधा अबोधात्मक जिस प्रकार हिरण्यगर्भ तत्व ही बोधा बोधात्मकम महान आत्मा ये महान है आत्मा बुद्धे पर तुझे तो बुद्धि से पर है बुद्धि से पर हो गया हिरण्यगर्भ तत्व उसके बाद पर को बताएंगे जो मुख्य निरतिशय पर ओम सना